फिर जब तुम अपने हज के काम पूरे कर चुको तो अल्लाह का इस तरह जिक्र करो जैसे तुम अपने बाप दादाओं का जिक्र किया करते हो बल्कि उससे भी ज्यादा जिक्र करो अब बाज लोग तो वो हैं जो दुआ में बस ये कहते हैं ऐ हमारे परवरदिगार हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होता